बोले भगवान दयानिधि है अपने को निज अपनाते हैं जो जन उनके शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं यह रीति सदा से है उनके यह रीत सदा से है उनके करते हैं प्रीति सेवकों से जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया अपना सब उनके अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया उनके ही हो जाओ भैया मंत्रों से जैसे सम सिंधुआ जाते एक कलश में है त्योहे भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है भगवान भक्त के वश में है भगवान भक्त के वश में है है सत्य जहाँ भगवान वही है प्रेम जहाँ भगवान वही हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही मुझको ही देखो बानर हूँ मुझको ही देखो बानर हूँ उपचार ध्यान जानता नहीं चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं हाँ दूसरा ज्ञान जानता नहीं फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है संपूर्ण कृपा दे दी मुझको ऐसा अनुभव में आता है हाँ ऐसा अनुभव में आता है तुम भी तज साथ राक्षसों का तुम भी तज साथ राक्षसों का आ जाओ भालू कपिगण में आचरणों को पाला अब तक तो अब पहुंचो आचरणों में इतना बतला हूँ जीवात्माओं इतना बतला दूँ जीवात्माओं जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है हो सकता है वह दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका है सिर पर हो राम विभीषण के चरणों पर सारी लंका हो इसलिए जाति के संबंधों में अब रतमत हो मेरे मत से हे भक्तराज रघुनायक के शरणागत हो हाँ रघुनायक के शरणागत हो मैंने तो यही समझा है मैंने तो यही समझा है इसमें ही सब आ जाता है मालिक का जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है हाँ मालिक को वह पा जाता है मालिक को वह पा जाता है जो लो राम जी से लगाता रहेगा वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा जो लो राम जी से लगाता रहेगा वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा हृदय में उसे के रहेंगे सदा वो हृदय में उसे के रहेंगे सदा वो हृदय से जो नाम उनका गाता रहेगा हृदय में उसे के रहेंगे सदा हो हृदय से जो नाम उनका गाता रहेगा जिएगा पति का हो के जो जग में जगत में वही जगमगाता रहेगा कृपा कोर होगी कृपा सिंधु की जब तो बेड़ा नहीं जगमगाता रहेगा बेड़ा नहीं लगमगाता रहेगा स्वभाव उनका पहचान कर काम कर लो सभी स्वभाव उनका पहचान कर काम करना तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा जो तू राधे श्याम उनका सुमिरन करेगा तो उनको भी तू याद आता रहेगा तो तू याद आता रहेगा जो लो राम जी से लगाता रहेगा वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा तो जीवन को सुख से बिताता रहेगा तो जीवन को सुख से बिताता रहेगा भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर गदगद उनके गिरा थे नैनों में था नीर बोले प्रत्यक्ष आज देखे महिमा मैंने सतसंगत के सतसंगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संग वाले लाभों से स्वर्गाधिक तुक्ष है तुलने पर सतसंगत सुख के बाटों से तुम नहीं मिले है रामदास जग गए भाग्य सोते के हैं इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे है अच्छा जब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई मात अशोक वाटिका में सुधे उनके ले आओ भाई यो तो कुछ गुप्त सेविकाए इस सेवक ने भी राखी है रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती है लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है वे माता है तुम भ्राता हो वे माता हैं तुम भ्राता हो दोनों का तुक्ष दास हूँ मैं निर्भय विचरो लंकापुर में छाया की तरह पास हूँ मैं हाँ छाया की तरह पास हूँ मैं तेरी जय हो जय हो जा बजरंगे निर्भय हो जाऊं तेरी जय हो जय हो जा बजरंगी निर्भय हो जा युद्ध जीत जा शत्रु जीत जा काल जीत जा काम जीत जा आगे बढ़कर सम्मुख या कर जमकर जय जय कर जा जा जा तेरी जय हो जय हो जय बजरंगी निर्भय हो जा हो जा हो जा हे रखवाले जग रखवाले उजियाले बल वाले बुद्धि वाले जाओ है रखवाले जग रखवाले उजियाले बल वाले बुद्धि वाले जाओ तेरी जय हो जय हो जाओ बजरंगे निर्भय हो जाओ युद्ध जीत जाओ शत्रु जीत जा काल जीत जा काम जीत जा आगे बढ़कर सम्मुख आकर जमकर जय कर जा जा जा तेरी जय हो जय हो जा बजरंगी निर्भय हो जा जा बजरंगी निर्भय हो जा पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा निधान